Shastru Shosam Prapache Vagodam हम हाँ। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमको वेद आधार रूप में अपने साथ जोड़ना पड़ेगा इस समय की स्थिति के अनुसार व्यक्ति की स्थिति ऐसी बन गई है हम्म। ईश्वर को उसने छोड़ दिया वेदों को भी उसने छोड़ दिया ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना और उनके साथ अनुसार चलना चलाना भी छोड़ दिया इसलिए मानव का जीवन विफल हो चुका है और आगे भी होता जा रहा है एक और संसार में इतना ज्ञान विज्ञान बढ़ चुका है कि व्यक्ति उस भौतिक ज्ञान विज्ञान के लिए सर्वस्व की आहुति दे चुका है कुछ बाकी नहीं छोड़ा उस भौतिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति क्यों करना चाहता है इस संबंध में व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है मुझे धन मान भोग तीन चीजें मिल जानी चाहिए उसको यूं बोलिए उत्प्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति इन तीन इच्छाओं की पूर्ति उसका लक्ष्य बन चुका है और इसमें भी दो विभाग बनाइए धर्म के अनुसार न्याय के अनुसार एक लौकिक व्यक्ति को पुत्रेषणा वित्तेषणा अर्थात भोग उसके अंतर्गत और मान धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति इन चीजों को उपलब्ध करता है तो लौकिक क्षेत्र में इनको बुरा नहीं माना जाता एक उदाहरण देंगे तो सारी समझ लेना उससे एक व्यक्ति ने किसी उत्तम कार्य में एक लाख रुपए का दान किया और वो चाहता है कि लोग मेरा यश गाएं लेखबद्ध हो सुनाया जावे इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया मुझे इतना चाहिए वो इतना मान के चला और मुझे किसी को हानि नहीं पहुंचानी इसकी और लाख रुपए का दान करके दस लाख की मान्यता जितना मैं सम्मान लेना नहीं चाहता इस यश के क्षेत्र में लाख रुपए का यश मुझे मिले इतना सीमित है मैं इस लाख रुपए के सम्मान को करता हुआ उपलब्ध करने की चेष्टा करता हुआ किसी मतभेद विचार भेद के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मुझे सम्मान मिले फिर दूसरे को ठेस जरूर पहुंचनी चाहिए इसके साथ ही जोड़ दिया तो यह अन्याय कहलाएगा और वो एक लाख रुपए की कीर्ति यश प्राप्त करना चाहे एक सीमा है और उसे वो लाख के स्थान पर दस लाख की यदि मान्यता प्राप्त करना चाहता है किसी को नीचे गिरा के उस तो सम्मान को करना चाहता है अधिक गुणा उससे सम्मान चाहता है और जिसका सम्मान चाहे उससे अन्यथा काम करवाना चाहता है रुपये धन देकर के अन्यथा काम करवाता है ये अन्याय के क्षेत्र में चला जाता है तीनों चीजें पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना अन्याय के क्षेत्र में चली जाती है अन्याय के क्षेत्र में चला जाना आज कोई चिंता का विषय नहीं रह गया है अन्याय के क्षेत्र में जाके व्यक्ति आज तीनों को पूरा करने के लिए तैयार है सुसज्जित ये स्थिति बन चुकी है इसको वैदिक ढंग से सोचो एक व्यक्ति धार्मिक है सज्जन है बुद्धिमान है और वो एक सीमा में रह के अच्छे पुत्र की इच्छा करता है अच्छे पुत्र को बना के मैं लोग को दे दूं और वो मेरी सहायता भी कर दे तो लौकिक क्षेत्र में इसको बुरा नहीं माना जाता इसी प्रकार से धन कमाना उचित मात्रा में और उचित रूप में उसको खाना पीना उससे सुख का ग्रहण कर लेना उचित रूप उसको लौकिक क्षेत्र में बुरा नहीं माना जाता सम्मान को भी इसी तरह यदि एक तो था ये धर्मानुसार इनको तीनों को उपलब्ध करना और आगे बढ़ जाओ थोड़े से कालांतर में इन तीनों को भी छोड़ देना समझने का प्रयास कीजिए जो विवेक राज्य नहीं था उसको इतना ज्ञान नहीं था उसमें वो लौकिक था और वो यज्ञ भी करता है दान भी देता है उपासना भी करता है पांच महायज्ञ करता है पर लोकेशना उत्तेजना वितेशना तो अभी उसके ऊपर आरूढ़ है उनके नीचे कुछ दबा हुआ है तो कालांतर में वही व्यक्ति धीरे धीरे वैदिक परंपरा में ये माना गया ये भी तेरा उद्देश्य नहीं है मानव का उद्देश्य न्यायपूर्वक तीन क्षणों को पूरा करना भी उस उद्देश्य नहीं है हेतु उससे व्यक्ति की तृप्ति हो जाती हो यह कभी भी संभव नहीं हुआ नित्य आनंद मिल जाता और दुख छूट जाते कभी संभव हुआ ही नहीं ये वैदिक परंपरा अब जो इसके विपरीत है वैदिक परंपरा है जो मैं आपको बतलाया वो वैदिक विचारधाराओं वालों में घुस गई है और वो भी पूरी तरह से केवल भोगवादियों की तरह लगे हुए हैं आपस में तीन ऐसनाओं की पूर्ति अन्यायपूर्वक करना और दूसरे लोगों को उन ऐसनाओं से वंचित कर देना ये स्थिति आपके अंदर भी कुछ न कुछ आ गई हो अध्ययन करना वहां घर बैठे आपको नहीं जान होगी ये चीज यहां बैठ के यदि शुद्ध होकर सुन लोगे हमारी बात तो हो सकता है दस जन्म में आठ जन्म में समझ में आ जाए वहां तो आप अपने को दूध का दुहा देखेंगे घरों में बैठ के देखो तो एक व्यक्ति से हमने पूछा उनका हरि सिंह नाम आर्य समाजी विचार के हरि सिंह एक व्यक्ति ने उपदेशक थे उन्होंने बताई घटना कि हरि सिंह आप बहुत ढीले व्यक्ति हो आप में इतनी कमियां हैं तो उसने कहा कि गांव में किसी की व्यक्ति के साथ मेरी तुलना कर लो मैं किसी से आर्य विचारधारा में कमजोर नहीं हूं सारे गांव इतना बड़ा था तो उपदेशक जी ने उससे कहा कि हरि सिंह जी आप कूड़े के साथ कचरे के साथ अपने आप को तोलने बैठ गए क्या था कूड़े कचरे के साथ तोलोगे गुजरात में कचरा कहते हैं उसे और कूड़ा कहते हैं एक अपने आर्य समाज में व्यक्ति थे उन्होंने सोचा आपका नाम क्या है फिर मेरा नाम कचरा है <laughs> तो हरियाणा के लोग उसको कूड़ा बोलते हैं तो वह कूड़े कचरे के साथ अपने घरों में आप तोलेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल कहे हम बहुत ऊंचे व्यक्ति यहां आके बैठ के देखो तो एक वर्ष देखो दो वर्ष देखो छह वर्ष देखो वो व्यक्ति कहेगा मैं तो अभी भयंकर दोषों से घिरा हूं तो मैं आपको याद दिला रहा था कि ये जब स्थिति है तो कहां पहुंचेंगे हम हम वेद का सहारा लेंगे वेद क्या कहता है अब ये निजम प्रपद्य इसमें तीनों वेदों का नाम लिया और कहने लगे हमारी वाणी और हमारा शरीर और स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर की भी बात आई सत्रह तत्व ऋषि ने यहां भी लिखे सत्रह तत्वों का लिंग शरीर यहां लिखा इसी मंत्र वो ज्ञान भी ज्ञान का भाग भी है उसमें कर्म इंद्रिया भी इसमें आ गई पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया एक मन पांच परमात्रा वो सत्रह तत्वों का शरीर भी हमारा शुद्ध हो ऋग्वेद की भांति बन जाए यजुर्वेद की भांति बन जाए और सामवेद की भांति बन जाए उपमा दी ये हमारी शक्ति पर इसमें एक बात जो कही गई याद रखना कि विद्वानों के सत्संग से ये स्थिति हमको उपलब्ध हो सकती अन्यथा जो वेदों को जानते मानते ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते तदनुसार आचरण करते धार्मिक योगाभ्यासी विद्वानों की चर्चा है उनके संग के बिना व्यक्ति कभी भी अपनी वाणी को अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर को जीवन को ऊंचा बना नहीं सकता सत्यवादी सत्यमानी योगाभ्यासी वेद को मानने जानने वाला विद्वान उनकी शरण में रहना पड़ेगा तब हम सफल हो सकते हैं इसलिए ऋषि ने एक संकेत दिया सत्यार प्रकाश में कि मुक्ति के साधन क्या है उन्होंने कहा मुक्ति के साधन पहले बहुत बुझा चुके हैं फिर भी सुन और उसका भाव सुनाऊंगा भाषा कि जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है वो मुक्त हो सकता है परंतु विद्वानों के संग से धर्म अधर्म सत्य और असत्य कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय अवश्य ही करे इससे क्या निकला ऐसे विद्वानों के बिना धर्म अधर्म सत्य और असत्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्वाचन होना अति कठिन है प्राय व्यक्ति विफल है ये तो अपवाद रूप में बात आती है कभी कभी व्यक्ति पूर्व जन्म की सामग्री लेके आता है पहले जन्म में वेदों को पढ़ा होगा विद्वानों का बहुत सत्संग किया होगा और योगाभ्यास किया होगा किसी विशेष परिश्रम के आधार पर उसने क्या किया सीधा ईश्वर को गुरु बना देना वो तो अपवाद रूप पाएगा अन्यथा दूसरे स्थान पर व्यक्ति वही होते हैं सभी ऐसे विद्वानों के संग से वो सत्या सत्य को जान लेते हैं और सफल हो जाते हैं अन्यथा इस जीवन में सफल होने की बात नहीं तो वेदों की उपमा दी गई है ऋग्वेद के समान हमारी वाणी हो यजुर्वेद के समान मन हो सामवेद के समान प्राणपान आदि तो वेद का आधार लेके हम चले और वैदिक विद्वानों के संग से हम सत्या सत्य कर्तव्य कर्तव्य का परिज्ञान करें और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे आप यहां आते हैं यहां जो सिखा सकते हैं पूरा प्रयास करते हैं पर श्रद्धा से सुनिए और बहुत गहराई जाइए आप और इन सभी शिक्षण शिविरों के सुने हुए को दोहराइए फिर भाग लेना फिर दोहराइए आप फिर जाइए गहराई अच्छी तरह जाइए आप चरित्र की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से और सूक्ष्मता की दृष्टि से मेरी दृष्टि में आपको ऐसा विद्यालय साथ कहीं हमें नहीं देखने को मिला हो अब तक कोई ध्यान में नहीं आया जिस गहराई में आप यहां यदि विधि पूर्वक सीख के सुनते हैं जिस गहराई में चरित्र निर्माण जिस गहराई में वेदों की बात जिस गहराई में ऋषियों की बात मन इंद्रियों को जीतना उनको शुद्ध बनाना जो पद्धति आपको यहां सिखाई जाती है यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो में दूसरा विद्यालय कोई ओट में हो मुझे नहीं देखने को मिला हो नहीं मिलेगा पर वो विधि पूर्वक आपको ये चीज व्यवहार में लानी पड़ेगी व्यवहार में लाए बिना किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है आदेश मिला आपको मौन रहना है ये करना वही करना आदेश मिला ये नहीं करना वो नहीं करना आप ऐसा न करें जैसे कि अपने यहां उसको दिन भर टोकते रहो एक एक घंटे में टोकते रहो वो वो वैसा का वैसा अपने स्तर पर बातचीत करता है कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता दिन में देखना अपने आप को आप आप उस स्थिति को खो बैठते हैं यहां से चले स्थिति को खो दिया तो अब समय के अनुसार इन बातों को ध्यान में रखिए मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर के आदेशानुसार सभी ऋषियों की मान्यता के आधार पर यह निश्चित है कि मूल शरीर को पाके ईश्वर को जानना और औरों को जनाना ईश्वर को पा लेना और औरों को प्राप्त करवाना और जितने विज्ञान है भौतिक विज्ञान है ये हमारी साधन है इनमें कोई साध्य नहीं है और ये ईश्वर की दृष्टि में सब छोटी छोटी चीजें हैं ईश्वर से बड़ा या ईश्वर के तुल्य इनमें न भौतिक विज्ञान है न सोना चांदी है ये जो दिमाग खराब हुआ है भोगवादियों ने और भौतिक वैज्ञानिकों ने दिमाग खराब किया है भौतिक वैज्ञानिकों ने यद्यपि हमको देन दी है उसको हम निषेध नहीं करेंगे हम उनका उपकार मानते हैं वो महान है पर इन्होंने दूसरा जो बीज बो दिया है भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है उसकी चर्चा मत करो हमारे क्षेत्र में भगवान को जगह नहीं है और भगवान प्राप्त होने से कोई आनंद भी होता होगा ये हमारा विषय नहीं है ये अनर्थ पैदा कर दिया भौतिक वैज्ञानिक ये लोगों को वैज्ञानिकों को बुरा लगेगा पर हम उनको दुख देने के लिए ये बात नहीं कह रहे हम उनकी भूल को समझाने के लिए बात कर रहे हैं ये विज्ञान के सुनने वालों को भी बुरा लग सकता है उनको भी ये दिमाग रखना चाहिए हम उनको निंदा की दृष्टि से नहीं उनके भले के लिए अपने भले के लिए उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करो विज्ञान की प्रगति हो खूब करो बहुत अच्छी चीज इसको अपराविद्या बोलते हैं ऋषि पर यह पराविद्या के लिए स्वीकार की गई पराविद्या अपराविद्या ब्रह्म विद्या के लिए यह विद्या है भौतिक विज्ञान न कि केवल भोग प्राप्त करने के लिए यह भयंकर भूल है वो अपराविद्या को ही सब कुछ मानते हैं पराविद्या को बिल्कुल ही नहीं मानते पराविद्या का मतलब ब्रह्म का ज्ञान आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान इसको कोई जगह नहीं दे रहे वो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है ये भयंकर अंदर पैदा कर दिया यदि वो लौट करके ये कहें कि हमने भी भूल अपनी मान ली और इसको हम छोड़ते हैं ये हमारा विज्ञान सारा अच्छा है प्राप्ति के लिए तो हमें कोई बाधा नहीं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा तो आप इसको विराम देते हैं पर इन बातों को व्यवहार में लाइए आप जैसे और कहीं उत्सव होते हैं बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ऐसा वातावरण न बनाना है न बनने देना है अन्यथा आप सुनने वाले हम कहने वाले रह जाएंगे धरती पर आचरण नहीं आएगा जैसे और दुनिया कहती है मैं कहूंगा आप सुनेंगे और थोड़े से दिनों में ऐसा हो जाएगा ये भी वैसे ही कहते सुनते हैं जैसे कि रामलीला मैदान में बोलते हैं बड़े बड़े समुदाय ये स्थिति ऐसी आई इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता चाहे आप मुझे पढ़े लिखे विद्वान हो चाहे थोड़े विद्वान हो साधारण हो उसकी करनी और कथनी जब तक एक नहीं है वो किसी के जीवन को नहीं बदल सकता भी आज तो हमारा टकराव इस बात से है करनी और कथनी को एक बना दो और विपरीत मिथ्या जो है मन में कुछ और वाणी में उसको उखाड़ के फेंक दो हम तो इसलिए काम करें स्वयं करते हैं सहयोग देते हैं तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति और आपको हम बहुत अच्छा मानते यदि आप इसको करते भी नहीं कराते नहीं सुन करके समाप्त कर देते तो आपकी अच्छे व्यक्तियों की गणना नहीं हो पाई अब इसको यहीं पर विराम देना